बिसर ग्रह सपने हो सुधी नाही पर द्रोह संत मन मानी तब रघुपति सब सखा बुलाए आय सबन सादर से परम प्रीत समीप बैठारे भगत सुखद मृदु बचन उचारे तुम्हें अति की मोर शिवकाई मुख पर कही विधि करूँ बढ़ाई ताते मुहि तुम्हें अति प्रिय लागी अमृत लागी भवन सुख त्यागे अनुज राज संपति वैदी परिवार समी सब मम प्रिय नहीं तो ही समाना मृषान कहा मोर ये दाना सबके प्रिय से मोरे अधिक दास पर प्रीति अब ग्रह जाओ सखा सब भजे सदा सर्वगति सर्वहित जान करे भू अधि प्रेम अति प्रेम सियावर चंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय बिसरे गए सपने में सुदनानी अब देखो सबको अपना अपना घर भूल गया और सपने में भी अपना घर याद नहीं आता छह महीने से ये सब बानर यहाँ रह रहे हैं ये बानर ऐसा न समझे बिल्कुल जंगली घरवार उनका है नहीं ये सब इनके घर है मकान है राज्य है शासन व्यवस्था भी है सब अपने अपने काम करने वाले हैं तो कहीं कहीं ये लगने लगता है कि वैसे तो लगता है कि बानर लोग सब बनने सब रहते थे <clears throat> लेकिन ये सब बानर लोग वो हो कहीं किसी प्रांत के दक्षिण भारत में कहीं किसी जाति के मनुष्य थे बानर करके कलाते मनुष्यों की तरह से ये भी सब रहते थे बुद्धिमान थे सत्यकाली थे ज्ञानमान थे पढ़े लिखे भी थे ये सब बातें इनमें थी तो ही तो ऐसी करके ये अपने घरवार वाले भी थे इनके भी पत्नियां थी पुत्र आदि थे मकान था लेकिन ये सब भूल गए उनको कहते छह महीने से यहाँ है बेचारे गए सपने भी सुधरा ही सबको अपने घर भूल गए सपने में भी घर की तरफ ध्यान ही नहीं जाता इनका ऐसा बैराग्य इनको आ गया भगवान के पास ब्रह्मानंद में मन में कभी याद नहीं आता ऐसी हो अब इनको घर बार छोड़े हुए एक वर्ष हो गया है बंद हो छह महीने तक यहाँ रह रहे हैं और छह महीने उसके पहले से घर छोड़े हुए हैं जब से सुग्रीव ने इनको सीता जी की खोज करने के लिए भेज दिया तो महीने भर तो ये खोज ही करते रहे उसके बाद खोज करके आए फिर से भक्ति हुई फिर समुद्र तट तक पहुंचे समुद्र पुल बांधा गया जनता पहुंचे युद्ध हुआ फिर संरक्षण नहीं रहते ये सब इतने काल तक जो ये सब बानर जो है अपना घर बार छोड़े हुए भगवान राम के साथ ही सबसे लगे हुए हैं घर नहीं पहुंचे और फिर यहाँ आ गए तो वहां से छोड़ करके अपने अपने घर कृष्ण नहीं पहुंचे ये सब लौट करके यहाँ आ गए यहाँ अयोध्या में आ गए तब से अपने घर में नहीं पहुंचे तो कहते हैं घर की याद भी नहीं करते कैसे याद नहीं करते दृष्टान देते हैं कहते हैं जिम पर द्रोह संत मन माही जिम पर द्रोह संत मन माही तो मैंने क्या है जैसे कि संत के मन में परद्रोह की बात कभी याद नहीं आती परद्रोह की बात करना तो दूर परनिंदा की और परद्रोह का भाव मन में आता तक नहीं ये संत का लक्षण देखो अब इसी राशि की महिमा ये जगह जगह अनेक शिक्षा की बातें जगह जगह बताते रहते अगर संत है तो परद्रोह की कोई बात ही नहीं उसके मन में तो ये भले बुरे संसार में जितने लोग हैं सब भगवान के रूप हैं और सबका हित हो सबका कल्याण हो सब में सदगुण आवे सबका उद्धार हो सब धर्म के मार्ग पर लगे भक्ति के मार्ग पर लगे बस एक लक्ष्य यही सबके उनकी निंदा करना विरोध करना झगड़ा करना ये सब तो असंतों के लक्षण है संतों के नहीं इसलिए कहते हैं जैसे परद्रोह संत के मन में कभी नहीं आता ऐसी करके इनके मन में कभी आदमी आती दूसरे लोग संत से भले ही द्रोह करें लेकिन संत के मन में द्रोहियों के प्रति विद्रोह का भाव नहीं आता ये संत गलत अब संसारी लोग कहेंगे अरे साहब जब दूसरा दो करोगे तो करना ही पड़ेगा अब जब दूसरा ऐसा करेगा तो करना ही पड़ेगा ये तो तुच्छ बुद्धि की व्यक्ति है ये शास्त्र नहीं कहती ये व्यक्ति इसके मैंने समझ व्यक्ति की अभी नहीं जागृत हुई अभी विवेक नहीं आया है मंद बुद्धि का व्यक्ति जहां ज्ञान उत्पन्न होगा शास्त्र मत समझ में आएगा तो समझ में आएगा दूसरा दुनिया में तो द्रोह करते ही होंगे जो द्रोह करने वाले वो तो कम करेंगे लेकिन उन द्रोह करने वालों के व्यक्ति के प्रति संत के मन में कोई द्रोह नहीं ये भी चाहते हैं कि जितने की ऐसे व्यक्ति हैं जो द्रोह करने वाले हैं जिनका दुष्ट स्वभाव है उनका भी स्वभाव सुस्त हो जाए वो भी सत्पुरुष बन जाए द्रोह छोड़ जाए शांत स्वभाव के हो जाए परोपकारी हो जाए मंगलकारी बन जाए यही भाव अपने मन में उनको लाएंगे उनके द्रोह को नहीं देखेंगे उनका चिंतन ही करेंगे तो जिन पर ध्रुव संत मन मानी तब रघुपति सब सखा बुलाए तब कहते हैं कि भगवान ने कुछ समझने के बाद सब लोगों को बुलाया अपने सखाओं को सखाने संबोधित में भी है सुग्रीव है विभीषण आदि है हनुमान ये सब के सब जितने नंदीला जितने आए सबको उन्होंने भगवान ने बुलाया बुलाया तो उनसे बातचीत की भगवान ने आई सबन सागर आए जब सब आए तो भगवान के सामने आए तो भगवान को प्रणाम करके आदर पूर्वक उनके पास बैठे तो परम प्रीत समीप बैठा रे अब भगवान ने उनको बड़ा प्रेम अपना प्रदर्शित किया परम प्रीति भगवान ने कहा तुम तो हमारे बहुत प्रिय आगे जो कुछ कहते हैं वो बताते हैं तो भगवान ने बड़े प्रेम पूर्वक उनको सबको समीप बैठा रे समीप बैठाने का ये है कि जब प्रियता होती तो पास बैठा भगवान अब देखो जब भगवान को बहुत प्रेस होगी तो बिल्कुल बदले में ढाल लेने के लिए महल डाल लें तो ठीक तो बहुत ही प्रीत की बात हो गई अगर थोड़ी कम प्रीत की बात हुई तो भगवान अपने पास को तो बैठा लेंगे लेकिन बैठा लेंगे नहीं उससे अभी अभी हम लगाएंगे पास बैठा लिया तो भी प्रीत की बात है लेकिन पास मांगे दें दूर जो आया तो दूर ही बैठा रहे तो इसके मैंने भगवान को से ज्यादा प्रेम तो भगवान के प्रेम का लक्षण निकटता है है तो जो व्यक्ति भगवान से जितना अधिक प्रेम करेगा भगवान भी उससे अधिक प्रेम करेंगे और निकटता बढ़ती चली जाएगी और परमात्मा में परम प्रेम भक्त का हो गया तो भगवान का भी भक्त में परम प्रेम हो गया तो दोनों नहीं हो गए दूरी रही इस बात को सूचित करने के लिए जो वेदांत का सिद्धांत है उसको व्यवहार में से दिखाते रहते हैं कि परम प्रीत समीप बैठारे भगत सुखद मृद वचन उचारे और फिर अपने भक्तों को सुख देने वाले बड़े प्रिय वचन भगवान ने कहे मैंने भगवान ने जो कुछ कहा अपने प्रतिभाव की अभिव्यक्ति करते हैं और बांधवों पर अपना प्रेम प्रकट करते हैं तो वो सब सुन करके बांधवों को बड़ा आनंद आया मैंने बड़ा सुख हुआ उनको तो भगवान जब बोले तो देखो सुखद वचन बोले मृदु वचन बोले दो बातों के वचन बताई दिए भगवान बड़ी मृदुता से बोले मृदु कोमल वचन बोले भगवान अंदर तर्कसता के वंश मात्र विधि तो तोड़ता है बड़े शांत से बड़े प्रेम से भगवान बोले और ऐसे वचन बोले कि जिसको कि जो सुने तो उसके हृदय में सच्ची उद्भूत हो और कर्कश वचन कौन है जो बोले तो श्रोता के मन में पहुंच करके बाण की तरह से चुभे हम्म? और वो बिजला है तो ये कैसा हुआ ये कर्कश वचन हो गया दुखदायी वचन हो गया तब जैसे देखो विवेक अगर हो अगर ये समझता हो कि हम जो कुछ बोल रहे हैं तो उसकी प्रतिक्रिया दूसरे के मन में क्या हो रही है तो तो वो विवेकवान व्यक्ति है तो तो उसे कुछ दिखाई देता है जैसे गीता भगवान कहते रहते हैं या पश्चिम पश्चात पश्चिम जो ऐसा देखता है सापश्यत वो दिखाई देता है जिसको ये दिखाई दे कि हम जो कुछ बोल रहे हैं दूसरे घरों में पहुंच करके उसके हृदय को सुधीर है कि नहीं है उसका प्रियता लग रही कि नहीं लग रही उससे उसका कल्याण हो रहा कि नहीं हो रहा उसका विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा ये ध्यान दे और अगर उसका ध्यान नहीं देता दूसरे के मन में पहुंच करके वचन चुहते हैं हाँ? और उसको बिलाता है प्रतिक्रिया करता है तो इसके मैंने क्या हो गया इसके मैंने वो बस उसको दिखाई नहीं देता कि दूसरे हृदय में उसके वचन का क्या प्रभाव पड़ रहा है वो समझता मैं तो सत्य बोल रहा हूँ मैं जो तो ठीक बोल रहा हूँ मैं ये घर जानता उसके आगे कुछ नहीं जब तक दूसरे भेदों में उसके बात का प्रभाव क्या पड़ता है वो नहीं दिखाई देता तब तक क्या देखता है जब समझ में आने लगे कि बात के दूसरे भेदों में क्या प्रभाव पड़ रहा है या कैसे दिशा पर है बात ही क्या देखता है तो कहते हैं इस प्रकार से भगत सुगत प्रतिवचन चाहे तुम्हें अतिथि ने मोदी से उठाई और मुख्य परिचय विधि करो पढ़ाई भगवान ने कहा तुमने हमारी बड़ी सेवा की मन हित लाभ जन्म तुम हारे हारे तो देखो हमारे लिए तो तुमने अपना जीवन ही हार दिया हमारे लिए हमारे यहाँ तो इस प्रकार से समस्त जीवन ही हमारे लिए लगा दिया वहाँ ये ऐसे तुमने हमारी सेवा की तो तुम्हारी कितनी प्रशंसा करें और प्रशंसा अगर मुक्त करना जो वो हो अशोभनीय है वो अपने सभ्यता के विपरीत है मुख पर प्रशंसा नहीं करनी चाहिए इसलिए भगवान ने पहले गद्य मुख पर विधि करो बढ़ाई तुम्हारे मुख पर बढ़ाई क्या करें बताया मुख पर बड़ाई चापलूसी की बातें की जाती है मुख पर प्रशंसा पीठ की व्यक्त की जाती है सही तरीका ये है कि जो पीठ की व्यक्त बोलो उसकी प्रशंसा करो तो तो प्रशंसा है मुख पर किसी की बोल दिया आप तो बड़े अच्छे हो आप तो बड़े बहाने वाला ये बोली तो ये कोई प्रशंसा नहीं और पीठ पीछे अरे साहब बड़ा पाखंडी है आदमी बड़ा दुष्टा है ये प्रशंसा हो ये तो मिथ्या वचन हो गया सामने इस प्रकार से बोलिए तो ये कहते हैं कि ये कि मम हित लागे भवन तुम ताते मुनि तुम अति प्रिय लागे और मम हित लागे भवन सुख त्यागे हम अब भगवान बताते तुम मुझे इतने प्रिय क्यों हो कहते तुम परम प्रेम है तुम्हारे में लेकिन वो परम प्रीति क्यों है उसका कारण भगवान बताते हैं ताते मन कारण ताते मुनि तुम अति प्रिय लागे इसलिए तुम मुझे सबसे अधिक प्रिय हो मम हित लाग भवन सुख त्यागे क्योंकि मेरे लिए तुमने घर का सुख त्याग कर दिया इसके माने भक्त कैसा होना चाहिए जैसे ये लोग हम्म? जिनको घर की याद ना हो घर को भूल जाए एकमात्र भगवान की प्रेम हो उन्हीं भ्रमण करने वाले हैं उन्हीं के कार्य में लगे होंगे तो भगवान को तो परम प्रिय होंगे घर की आसक्ति है बार बार घर आता है बार बार घर भागता है बार बार सोचता क्या बताऊं हम ही घर से दूर पड़े हुए हैं हम ही आबादी है हमारे साथ भगवान बड़ा अन्याय कर रहे हैं ऐसी जो सोचता रहता है बस पर वो क्या है वो भक्ति क्या उसके हृदय में है वो तो विषय आ सकती है तो कहते हैं कि ताते मोहित तो माते प्रिय लागे मम हित लागे भुवन सुख भवन सुख त्यागे और अनुज राज संपद भवन के सुख क्या क्या है इतने गिनाते हैं तो सब तुमने छोड़ दिए अनुज मैंने छोटे भाइयों को राज अपना राज्य राजा लोग हैं ये सब सुग्रीवादी और संपत्ति सब पति इनको सबको प्राप्त कहते भगवान ही कहते कि देखो ये सब मुझे प्रिय है अनुज राज संपत्ति वैदे ही दे के परिवार स्ने ही मम सम सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना ये सब मुझे प्रिय हैं लेकिन तुम्हारे समान ये कोई प्रिय नहीं है ये जो ये कहते हैं कि ताते मुई तो मत प्री लाभ ममित लाग भवन सुख त्यागे भवन के सुख के जो जो भगवान यहाँ वर्णन करते हैं कि मुझे प्रिय नहीं है जैसे कि तुम प्रिय हो इसके माने किसी इनके भी सब इसी प्रकार जब भवन होगा तो वहां अपने पत्नी होगी पुत्र होंगे भाई होंगे राज्य होगा संपत्ति होगी <clears throat> घर बार सब होगा तो उनको सबको इन्होंने भुला दिया है तो भगवान भी कहते हैं कि हमने भी इन सबको भुला दिया जब तुमने भुला करके सब अब हमसे प्रीत की है तो ये सब के सब जितने हमारे भी हैं ये सब मुझे उतने प्रिय नहीं है जरूर आसपास घिरे हुए हैं लेकिन वैसी प्रीति इनमें सब में नहीं जैसी कि तुम में <clears throat> कहते हैं कि अनुज राज अपने कहते हैं कि हमें भाइयों से प्रेम है राज्य है हमारे उसका प्रेम संपत्ति वैदेही सीता जी हैं बुद्धि अपना शरीर है गे घर है परिवार है स्नेही और भी हमारे स्नेही लोग हैं हाँ, अपने परिवार इत्यादि के हैं संबंधी लोग हैं वे भी सब लोग हैं सब मम प्रिय अब हैं तो सभी मुझे प्रिय है कोई दुश्मनी थोड़ी किसी से लेकिन नहीं तुम्हें ही समाना अब देखो भगवान का जो प्रेम है वो कैटेगराइज है डिफरेंट कैटेगरी का है सब प्रेम सदा सब जगह एक समान नहीं है कम ज्यादा है ये उत्तरकांड में आकर जब काकभूषण से मिलेंगे तब भगवान ये एक्सप्लेन करेंगे कि कम ज्यादा क्यों है अब कम ज्यादा प्रेम के माने ऐसा नहीं कि किसी से बिल्कुल प्रेम ना हो भगवान कहते हैं सबसे प्रेम है वहां चलकर तो दिए भगवान कह देते हैं काकभूषण जी से कि मुझे तो सब प्राणी जितने सब मुझे प्रेम है मिली की बात नहीं है कहते हैं सब उपजाए जितने भी प्राणी सब मुझे से उत्पन्न हुए हैं इसलिए सब मुझे प्रिय जीवित कहते कोई मुझे प्रिय नहीं प्रिय तो सभी है लेकिन उन प्रियता में भी प्रियता बढ़ती चली जाती है प्रियता की कैटेगरी बताते हैं ये नहीं प्रिय के बाद फिर उसका विपरीत हो जाए अप्रिय कोई हो जाए ऐसा कुछ मैंने यही सिद्धांत के जीवन का कि अप्रिय कोई न हो प्रिय सब होने चाहिए अब उसमें प्रियता की कैटेगरी हो सकती कोई कम प्रिय कोई अधिक प्रिय ये हो सकता है इसलिए कहते हैं सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना तुम्हारे समान में कोई भी प्रिय नहीं सब क्या तुम मृषा न कहा मोर ये पाना कहते मैं ये झूठ बात नहीं कहता हूँ ये बिल्कुल सत्य बात है कहते ये तो हमारा पान है मैंने ये हमारी तो इसी प्रकार का स्वभाव ऐसा ही मैं करता ही हूँ स्वाभाविक रूप मानिए परमार्थ गुण है ये परमात्मा का स्वभाव इसी प्रकार का है मैंने सर्वोत्तम परमात्मा का स्वभाव है ये सर्वोत्तम स्वभाव है सबसे अच्छी बात क्या है जैसे भगवान की बात से सबसे अच्छी बात है सब में प्रेम सब में हो भाव किसी से न हो अप्रियता किसी में न हो सब प्रिय है और सबकी प्रियता का ध्यान भी रखे और सबका हित कल्याण चाहे लेकिन कहीं कहीं इस प्रकार के व्यक्ति जितना ही जिसमें कि आध्यात्मिक विकास हो जैसे जैसे उसमें दुर्गुण दूर होते जाए जैसे जैसे गुण आते जाए जैसे जैसे ज्ञान जागृत होता जाए जैसे जैसे परमात्मा की भक्ति आती जाए ऐसे व्यक्ति जो है वो परमात्मा के ज्यादा निकट है उनमें ज्यादा प्रेम आना ही चाहिए स्वभावता प्रिय लगेगा उसको <clears throat> स्वाभाविक रूप में कहते हैं ये कहते हैं बसा न गाँव ये कोई हम ऊपरी झूठी बात नहीं कहते हैं मोर ये पाना ये हमारा स्वभाव है और सबके प्रिय सेवक ये नीति अब एक सिद्धांत भगवान कहते हैं देखो संसार में सेवक सबको प्रिय होते हैं भगवान के इसके कहने के माने कि जैसे एक स्वामी होता है सेवक होता है तो स्वामी को अपने सेवक में प्रेम होता है सबके प्रिय सेवक है यह नीति नीति क्योंकि सेवक स्वामी की सेवा करता है तो स्वामी को भी अपना सेवक प्रिय होता है लेकिन सेवक जो है संसार के जितने स्वामी और सेवक हैं उनमें सेवक स्वामी की सेवा करता है और बदले में कुछ चाहता है कि हम सेवा स्वामी की करें तो स्वामी भी हमको कुछ न कुछ इसके बदले में दे हमारा भरण पोषण करे उनको धन दे वस्त्र दे हमें दे और हमारी आवश्यकताएं उनकी पूर्ति करे हम ज्यादा सेवा करेंगे तो वो तो और देगा हम ज्यादा सेवा करेंगे तो और देगा ऐसा भाव रख करके सेवक स्वामी की सेवा करते हैं लेकिन दास थोड़ा भिन्न है सेवक से कहते मोरे अधिक दास पर प्रीति लेकिन भगवान कहते हैं हमारे भक्त जो है तो हमारे दास और उन पर मुझे बहुत प्रीति है क्यों प्रीत है कि हमारे दास बदले में कुछ मुझसे चाहते ही नहीं सेवन सेवा करना जानते हैं बदले में कुछ मांगते नहीं कुछ चाहते ही कि मुझे ये मिल जाए मुझे वो मिल जाए मैंने संसार की कोई वस्तु की काम नहीं करते और जब ऐसे दास होंगे तब तो फिर क्या करें कहते ये तो मुझे सबसे अधिक चाहिए मोरे अधिक दास पर प्रीति करते हैं इसलिए मुझे दास के ऊपर ज्यादा प्रीति है संसारी जितने संबंध है आनंद के सेवक स्वामी का संबंध संसार का दृष्टान्त दिया जाता है लेकिन भक्त के क्षेत्र में आकर के स्वामी सेवक का सिद्धांत पहले की अपेक्षा उत्कृष्ट हो जाता है किस बात में उत्कृष्ट हो जाता है कि यहाँ सेवक कोई स्वार्थ नहीं रखता कोई काम नहीं रखता दास हो गया जन हो गया बस ये प्रधानता इसमें हो गई तो निष्कामता अध्यात्म के क्षेत्र में निष्कामता प्रधान है जितनी निष्कामता आ गई उतने ही अध्यात्म परमार्थ सिद्ध हो गया इसलिए दास्य वो निष्काम होकर के अहंकार छोड़ करके एकमात्र भगवान में समर्पण होकर के रहता है और जाही विदरा कर हम जाही विदरेगे उसमें कुछ नहीं दिए ठीक नहीं वो ठीक नहीं वैसे नहीं ये कम वो ज्यादा जाही कर पर ताही विदरेगे ये हो गया तो कहते हैं कि बस ऐसे दास हैं तो सिद्धार्थ भगवान कहते तो मुझे बहुत प्रिय इतने अधिक प्रिय है कि फिर राज संपद दे देगी दे सब प्रिय इतने प्रिय तो बस ऐसे कह करके भगवान ने तो अपना प्रेम दिखा दिया और वो बड़े प्रिय हैं ये भी संतुष्ट कर दिया तो सुन सुन करके ये सभी लोग हैं बड़े प्रसन्न हो गए कि देखो भगवान के हमारे ऊपर कितनी कृपा है कितना प्रेम हमारे ऊपर भगवान का हम धन्य है ऐसे समझ करके उनको बड़ा आनंद अपने हृदय में हुआ भगवान की पानी को सुन करके गीता उनके मन में जागी और लेकिन इसके बाद भगवान क्या कहते हैं कितना प्रेम दिखा करके कितना आनंद दे करके तब थोड़ी कड़वी बात करते उनको लगेगा कड़वी बात लेकिन क्या करें अध्यात्म के क्षेत्र में हर बात एक एक सीढ़ी जैसे आगे चलो तो कुछ न कुछ आगे बढ़ने में व्यक्ति को कष्ट होता है है तो कड़वी तो बकरी लगे लेकिन आगे करना यही है इसलिए यहाँ पर रह करके सब ब्रह्मानंद में मग्न है तो भगवान कहते हैं तुम यहाँ बने बने ब्रह्मानंद में मग्न बने रहो अब आगे चलो अब आगे क्या करो अब ग्रह जाओ सखा सब और भजे मोहित ने अब जाओ सब अपने अपने घर और हम हमारा दृढ़ कृतज्ञ होकर के सदा मेरा ही भजन करते रहना अब वहां पर जाके कैसे तो भजन करेंगे आप मान लो ये सब पूछते हैं कि भजन करना है तो यहाँ बैठ करके भजन हम कर रहे हैं आपका आपका कर रहे हैं तो वहीं भेज करके क्या करना है तो प्रयोजन बताते हैं अगली पंक्ति में कि प्रयोजन ये है कि सदा सर्वगत सर्वहित जान करे हुआ तो प्रेम अब ये भावना ये मत समझो कि अयोध्या में राज सिंहासन में बैठे हुए जो राम है बस वही एक राम है